तो उस वक्त एक तरह से सवाल किया कि आता है कि अल्लाह ताला नजूल फरमाता है कमाए दुनिया पर और फिर हर तरह के बंदों को किताब करके फरमाता है कोई हमसे तालिब है तो उसकी जरूरत को पूरी करें और वहाँ का नजूल कैसे होता है तो आता है कि वो जो मिम्बर पर बैठे हुए थे मिम्बर के सीने से नीचे उतर करके ये फरमाया कि ऐसे नहीं करता क्या हुआ गोया हम कैफियत को बयान कर रहे हैं अगर ये वाक्य वाक़ सही हो तो इसका मतलब क्या हुआ तो गोया अल्लाह ताला नजूल कैसे फरमाता है जिसके मुताबिक पूरी उम्मत का इस बात पर इतफाक है कि कैफियत मजबूल है मगर उस कैफियत को समझाया जा रहा है दीन ऐसे नीचे उतर करके कि ऐसे नजूल फरमाता है अल्लाह ताला के लिए भी एक टीवी है तो उस सीढ़ी के बाद फिर अल्लाह ताला आसमान की तरफ तो यहाँ हमारा उनका इख्तलाफ यह है कि अल्लाह के लिए उन्होंने जिसम माना जिस्म प्रार्थन नहीं कहा बल्कि ये कहा कि अल्लाह ताला अश के बिल्कुल बराबर है अश के बराबर होने का मतलब तो ये हुआ कि गोया अल्लाह जैसे जैसे अर्श जिसमानी उसके मुताबिक अल्लाह ताला हो गया अल्लाह को गैर मतलब मानते किसी भी हद के अंदर नहीं आता बिला हसिन बिला मिसिन ये हमारे राज्य की कम है तो उनके लिए तरजीब करती है राष्ट्र के बिल्कुल होता दूसरी चीज उन्होंने ये कह दी कि अल्लाह ताला जैसे हलूम है और तीसरी चीज ये कह दी कि अल्लाह ताला हर्ष पर ही है हर जगह हाजिर और नाजिर नहीं तीन बातों में हमारा उतर मतलब तो शायद वाजे हो गया होगा कि मतलब हमारा क्या है अल्लाह ताला अश पर मुस्तवी होने के साथ साथ हर जगह आबू नाजिर है कैसे वहां पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा हर जगह होगा मालूम कैफियत का मजबूत लेकिन लक्ष्य दोनों बात आ रही है इसलिए हम दोनों बातों को मानेंगे इन हजार से क्या कहा कि अल्लाह ताला जैसे हजूम में है अश पर है और अश के मोताली है अश पर है रात के एतबार से मौजूद लेकिन हर जगह हाजिर नाजिल नहीं तीनों बातें हुई अब इन तीन दावे के दलाल के पास क्या है वही जो तो हमने कहा इस दलाल अश के मुताबिक जो सात आयात कुरान पाक में उससे उन्होंने इसी तरह वो जालिया वाली हदीस को भी पेश करते हैं या के नबी करीम मतलब ने एक बागी जिसके ईमान और कुछ की हालत मुश्तबा थी तो आप मतलब ने उस बागी से पूछा अल्लाह तो अल्लाह के जवाब में उसने उंगली उठाई आसमान की तरफ तो उसको ही पेश करते हैं कि देखो जो सवाल किया गया उस बागी से और अल्लाह ताला अगर अर्श के ऊपर न होता तो फिर कैसे वो बाकी जो उठाई उंगली आसमान की तरफ को आपने उसकी बुनियाद पर मोमिन होने का फैसला कैसे कर दिया तीसरी नस उनके सामने है हदीज मेराज कि अगर अल्लाह ताला हर जगह मौजूद होता तो अल्लाह ताला मक्का मुकर्रमा में ही खुद आसमान पर के घर में ही अपना दीदार करवा देते अल्लाह को आसमान पर बुलाने की क्या जरूरत है आसमान बुलाने का मतलब ही अल्लाह आसमान पर है अर्श पर है अल्लाह ताला अर्श से कभी नीचे भी उतरता है ऊपर भी जाता है अल्लाह ताला तो अभी से मेराज को भी उन्होंने अपने मतलब की बुनियाद बनाई हर जगह नहीं है उस पर बुनियाद उन्होंने यही कायम की है हर जगह अगर मौजूद होता तो अल्लाह ताला इतना लंबा चौड़ा इंतजाम नहीं करता वसल्लम के लिए और फिर उसके बाद जो मकाल पैदा हुए लोगों ने तकलीफ की आप वसल्लम की मेरा के ताल्लुक है वो तकलीफ और इस वक्त हाथ पेश किया इसलिए हर जगह नहीं है है अल्लाह तला वही बात ये दलाल है मगर इन दलाल में से जो पहली दलील हम सवाल आज की सात में आप सातों आयात जिसमें जिक्र है का उसके आगे और पीछे के को जरा देखिए कुरान पाक ने जो इस्तेमाल किया उसमें जो इस्तेमाल आज के बाद मुदब का कहीं पे जिक्र है यूसी लैला नहार लैला लैला नहार का जिक्र है गोया जहाँ पर भी है अल्लाह ने अपने फेल को बयान किया इस तवा हर्ष के साथ साथ अल्लाह ताला ने अपने फेल को वहां पर बयान किया आगे जमात का कहना यह है कि इस तवा हर्ष के साथ जितने अपाल का जिक्र किया गया है उन अफाल का मतलब यह है कि अल्लाह ताला अक्ष से हाथ तालु रखने के साथ साथ तस्वीर तमाम उमूर का लिहाज और दुनिया में जो तकरुम करने का इख्तियार है ये खास इख्तियार अल्लाह तारा ने अपने को रखने ये रखा है लेकिन तनकीद अहकाम के लिए अल्लाह ने एक जहत को मुतयन कर दिया ऐसा नहीं है कि उस जहत में अल्लाह कार जैसे होता है बादशाह करता है तो अपने अहकाम का निफाज अपने दफ्तर से क्या करता है से क्या करता है इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो हुक्म को नाफिज करना चाहे तो बगैर दफ्तर के नाफिज नहीं कर इसका मतलब ये नहीं हुआ करता है कि दफ्तर से हट करके कहीं वो जा नहीं सकता हमेशा वो दफ्तर में चौबीस घंटे दफ्तर ही में रहता है लेकिन किसी भी चीज का लिहाज हुआ करता है खास वजह से होता है अल्लाह तला ने दुनिया और आसमान दोनों जगह अपने अवामिल के लिहाज के वास्ते एक एक सदर मकाम मुतयन कर दिया है आशिक वहां से सारी चीजें चलती है इसलिए हदीस के अंदर कहा होगा कि जब कोई चीज जाती है तो पांचवें आसमान पर जाती है वहां एक अर्श के पास से रसक आया करता है वो उसे उठा करके उसका देना और अल्लाह ताला का कोई हुक्म अगर आता है तो वही रकत लेकर के आता है साथ में आसमान पर यहाँ से फरिश्ते की सारी चीजों को लेकर जाते हैं हकीक बात में आता है इससे ये समझ में आता है कि अल्लाह ताला ने अपने और अपने आकाम के दिमाग के वास्ते एक जगह मुतयन कर दिया है और उस जगह से अवामिर का निकाल हुआ करता है ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला उस तरह से तार पकड़े हुआ है हर्ष के ऊपर जैसे महान कुर्सी के ऊपर प्राण बने हुआ है जैसे इंसान पक्ष के ऊपर बैठा हुआ रहता है उस तरह से बैठा ये जो आयात है उन सारी आयात के सियासों सवाब में जो दूल्हे इस्तेमाल किए गए हैं उस रोशनी ने और की जहां तक हदीसे मेराज की बात है जहां को वहां तक बुलाया गया अगर अल्लाह हर जगह हाजिर और नाजिर होगा तो दुनिया में भी अल्लाह ताला अपना दीदार कर सकता सकता उसका जवाब उस कुरान पाक ने दिया कुरान पाक ने कहा है कि हमने जो उनको आसमान पर बुलाया वो किसी से मोरी या हूँ इन आयाती हम अपनी आयात को भी सिर्फ दीदारी कराना मकसूद नहीं था अगर दीदार कराना मकसूद होता तो हम तो उनके कमरे में भी अपना फिदा कर देते मक्का मुकरमा में रहते हुए जमीन पर रहते हुए भी हम ईदा कर सकते हैं यहाँ पर से मकबूल नहीं था जो ये होरी या वो मिल आया देना हम अपनी आयात का मुशाह कराना भी चाहते थे उन तो को और वो मुशाह बगैर आत्मत का आए नहीं हो सकता कुरान तो ने खुद ये जवाब दे दिया इसलिए इस आयत से इस्तेदाल करना और ये कहना है कि बस क्या नाम है हदीस मेरा अल्लाह के हर होने के ऊपर मुतमकिन होने से दलील है ये खा बना हमने इसको वाजे तौर पर बयान कर दिया है उसके मुताबिक अपने मन से मतलब निकालना और अपने दिमाग को लगाना ये तो गोया नजर से हर के नजर करना और जहाँ तक जालिया की बात कि जारिया ने जो सवाल किया था अल्लाह और उनके जवाब में उसने इशारा किया था आसमान की तरफ तो उससे ये समझना कि बस अल्लाह ताला आसमान ही में है और जमीन पे नहीं है उसका तो एक जवाब हम ये देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस हदीस से इतना मालूम होता है कि ऊपर है ऊपर है इसलिए ये कहा लाजमी मानना है कि आशुका है हो सकता है दूसरे आसमान पर हो सकता है अल्लाह तला सूरज से हो चार को आसमान के नीचे है हो सकता है अल्लाह तला बादल में हो बादली को तो है तो चार और सूरज से नीचे इनको तो ऐसे ही हो गया कि कैसे किसी भूखे से कहा कि दो दो कितना होता है तो चार होती कह रहा है तो कुछ दिल की बात है तो जब ये कह दिया कि इधर जैसे उर्दू की तरफ इशारा किया पानी है तो इससे आपने आज कैसे समझ लिया कि आज पर आपका मुद्दा तो आज पर है आपका मुद्दा ये नहीं है कि आज काम पर है आपका मुद्दा आज के ऊपर है तो बाकी से आसमान की तरफ इशारा करने से ये समझ लेना कि आज के ऊपर है ये क्या साबित होता अगर बाकी ये कहती अल्लाह आज के ऊपर है तब तो आप बोल सकते थे कि हमारा मतलब साबित फिर हदीस सही में ये है कि अल्लाह ताला आखिर रात में नजूल करवाता है समाए दुनिया में तो रात का आखिरी हिस्सा हमारे एतबार से मतलब तीन बजे लेकिन ये तीन बजे रात का आखिरी हिस्सा पूरी दुनिया में हो क्या जरूरी है गोया चौबीस घंटे में से कोई ना कोई वक्त का वक्त है के वक्त में हदीस से साबित है कि अल्लाह ताला दुनिया पर बना तो अगर नजूल दुनिया पर अल्लाह का हो गया के वक्त में और चौबीस घंटे में से हर वक्त दुनिया में किसी न किसी जगह तजुद का वक्त रहता है तो इस घर से तो ये साबित होता है कि अल्लाह ताला दुनिया पर अजमन तो अल्लाह तला का समाज दुनिया पर है अल्लाह ताला अर्श पर है ये तो ये भी नफ्स मौजूद है वो भी नफ्स मौजूद है आपको तो दोनों नफ्स की याद करनी है ऐसा तो नहीं है कि एक नफ्स को ले लिया जाए दूसरी नफ्स को छोड़ दिया जाए इसलिए ऐन अल्लाह वाली हदीस से आप उनका अल्लाह का जो जवाब दिया गया है वो कहते उर्म की तरफ दिया गया है और जैसे वो लू के अंदर सिर्फ अर्श नहीं है और अर्श के बारे में ये है कि आसमान और जमीन सबको घेरे हुआ है क्या कहेंगे आसमान और जमीन सबको घेरे हुआ है और अर्श को घेरे हुआ है तो घेरे हुई है कुल ऐसे हैं आजकल की जो तहरीर है साइंसदानों की वो यही कि गोया प्याज के छिलके की तरह से जमीन और आसमान है ठीक है को तो घेरे हुआ पूरा का पूरा आसमान दूसरा आसमान फिर वो पहले आसमान को घेरे हुआ तीसरा आसमान वो फिर दूसरे आसमान को घेरे हुआ इसी तरह से होते होते हुआ अर्श भी घेरे हुआ है आसमान और जमीन के तो अर्श सिद्ध जैसे होने में कहा हुआ वो तो जैसे सिद्ध में भी हुआ अर्श जैसे सिद्ध में भी हुआ जो हम कहते हैं कि अमेरिका हमारे पाँव के नीचे है तो अमेरिका अगर हमारे पाँव के नीचे है तो हमारे पाँव के नीचे अमेरिका है तो उसके नीचे ये तो अर्थ हुआ जैसे हमारे लिए ये ओलू है अमेरिका के लिए ये नीचे ओलू हुआ तो हमारे लिहाज से एक हिस्सा अर्श का उलू में है लेकिन एक हिस्सा हमारे लिए सिविल में है हिस्सा हमारे लिए जैसे जमीन में एक हिस्सा हमारे लिए जैसे शिवासन तो ये कह देना जब आप सही तौर पर मानते हैं कि जिस तरह हर्ष का जिस कुरान पाठ में है तो हर्ष को चारों तरफ है जब चारों तरफ हो गया तो फिर ये कहना चाहिए कि अल्लाह ताला जैसे औरत में भी है जैसे सिद्ध भी है जैसे यही में भी है जैसे शिवा में हर तरफ चाहिए अगर सबको वापस मानते हैं हालांकि नर को आप कह रहे हैं कि हम मान रहे हैं इस तरह को हम मान रहे हैं और हर्ष को आपने हाथ कर दिया किस तरफ गुरु की तरफ हालांकि सिर्फ गुरु में ही हर्ष नहीं जहां जहां हर्ष हो हर जगह अल्लाह तला को मानना चाहिए और हर जगह मानने के लिए जैसे उलू नहीं जैसे जिक्र जैसे जमीन जैसे शिमात सबको मानना चाहिए इसलिए ये जारिया वाली हदीस से इस्लाम करना एक वो इंतजार करते हैं जिसमें इस आयत में कहा गया अल्लाह हो जैसा वक्फल अनकुर सही ना हो गया बल लगी लग सको की मना में सही सही से कहा आ रही है तो उसने कहा गया है कि जब इंसान सोता है तो इस इंसान की मौत मुकदर होती है उनकी रूह को निकाल लेता अल्लाह का रोक लेता ही बिल्कुल लगी खजा आलम जिसका मौत का फैसला होता अल्लाह अपने साथ रोक और जिसकी मौत मुकदर नहीं होती है वो भी पहुंचती है कहा अल्लाह के लेकिन अल्लाह ताला से उसको छोड़ देता भाई उनसे दिल लगी भाई उनसे दिल होगा को छोड़ देता तो इस आयत से ही उन्होंने साबित किया कि गोया ये रूह जाती है अश्व हज पर जाने के बाद इसके मुताबिक फैसला हुआ उनके क्या नाम है मौत का उनको तो अल्लाह ने रोक दिया हज के ऊपर और जिनके बारे में मुतयन है कि वो अभी रहेंगे दुनिया में तो उनको भी छोड़ दें पांच बात की तो पूरी आयत को पढ़ लिया जाए कहीं पर ये जिक्र है कि हज पर ये भूल जाती है पूरी आयत किसी जगह ना अर्श का जिक्र है ना आसमान का जिक्र अल्लाह वो यतवक्कल अंत अल्लाह ताला नफ्सों को इंसान की रूहों को पूरा पूरा ले लेता है ले लेता है कहा पर दुनिया में रहते हुए आसमान के ऊपर जाकर अर्श के ऊपर जाकर कहा पर कहीं का भी वहां पे नहीं है मतलब कहा गया है वक्त अनबुद्ध रूहों को अल्लाह ताला ले लेता है इससे ये साबित करना कि अल्लाह ताला पहले रूह को बुलाता है अश पर और फिर क्योंकि अल्लाह ताला अश पर बैठा हुआ है लिहाजा इनके मुताबिक जैसा फैसला हुआ वैसा मामला उसके नाम पर होता है ये कहना भी वही है कि भूखे को कहा गया दो दो तो उसके साथ उसने इजाफा कर दिया तीन रखे चार लोग इसलिए ये आयतें उनकी बनी किसी तरह नहीं बनी जब ये आयत भी नहीं बन सकती से जारिया नहीं बन सकती से मेराज नहीं बन सकती इस दवा आदम अर्श के अंदर कुछ बात उनकी बन सकती थी लेकिन एक तो जो आयत का सियाको स्वभाव है उस सियाको स्वभाव उनके मकबूल को सही बात नहीं दे रहा एक है दूसरा जवाब ये कि आप जब उस आयत को मानते हैं उससे तो यही मालूम हुआ कि इस अलग अर्श अल्लाह के लिए साबित है ये बात साबित होगी तो आपको ये मानना चाहिए कि अर्श का सबूत जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ अल्लाह है ये आपको मानना चाहिए लेकिन आपने उस आयत पर जो बात आया उसने सवाल आज का जो है उसको भी आपने सही तौर पर नहीं माना क्यों नहीं माना कि अल्लाह को महसूस कर दिया कहते उर्दू में जबकि आज जैसे उर्दू के साथ खास नहीं है जब जैसे उर्दू के साथ आज खास नहीं है तो गोया उस आयत को भी आपने सही तौर पर नहीं माना दूसरा ये कि उस आयत का टकराव हो रहा है उस हदीस से जिसमें रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला के समाज दुनिया पर नजूल का जिक्र है तो उससे तो ये साबित होता है कि अल्लाह ताला समाज दुनिया पर क्यों है समाज दुनिया पर इसलिए कि कोई ना कोई वक्त कहीं ना कहीं वो वक्त तहजीब का होता ही है तो इन दोनों मुद्दे के नसूस चाहे वो हदीस हो चाहे वो कुरान पाक हो दोनों का मक्का एक हदीस की कहा क्या आई अल्लाह की तरफ कुरान की आया अल्लाह की तरफ फर्ज देखना है कि कुरान पाक के अल्फाज और मानी ये दोनों अल्लाह की तरफ हदीस पाक में मानी अल्लाह ताला की तरफ से है अल्फाज नबी करीब लेकिन दोनों का मंबा एक ही है जब दोनों का संवाद एक ही है तो कुरान पाक ने खुद ही कहा है कि नवजतू की वलौ कान मिन इल्म गैरिल्लाह नवजतू की इख्तिलाफी की की इख्तिलाफन कसीरा अगर अल्लाह के अलावा किसी और जगह से नुसूस होते ना सिर्फ कुरान पाक की बात नहीं है नुसूस की बात है अगर ये नुकूस अल्लाह के अलावा किसी और जाने से होते तो उससे तुम इख्तलाफ कसीर पर इसका मतलब है कि कुरान पाक ने खुद ही नसूस में इख्तलाफ का इनकार किया और जो कुछ भी हम इख्तलाफ हमारा सामने आता है एहिमा के ऊपर जो हम करते हैं वो कितने हैं वो सिर्फ ऐसे ही है कि जिस नुकूस की सही कुरान तक नहीं हो पहुंचा ऐसे हैं जिनके जिनके सही मुराद की तारीफ करने में नसूस से हम टकराव कर सकते हैं बुनियाद पर अपने रिल्स की बुनियाद और अपने सहन की बुनियाद पर इसीलिए एक मौका पे मौना रशीद रहे हैं जो बहुत दिनों से अपने शहर के पास खत नहीं खा तो उन्होंने शिकायत की थी कि सब लोगों के आवाज तो मालूम होते रहते आपके हालात मालूम नहीं होते तो उन्होंने जो चंद जुमले लिखे थे उनमें से एक जुमला ये भी लिखा था कि आपकी बरकत और सोबत के दोपहर तो में अल्लाह ने ऐसा हमारे ऊपर कर दिया है इनको खोल दिया है कि मजबूत में कहीं टकराव महसूस क्या समझा था उन्होंने मजबूत में हमको टकराव महसूस नहीं हो रहा मजबूत में टकराव का होना का मतलब यह है कि गोया हमारे सहन का कुछ इसीलिए कहा गया अल मुस्तहिद मुफ्ती वलुती दोनों दर्जे उसके लिए है पता भी करेगा और समाप्त भी दिया और ये बहस कॉन्सुलेशन में आप हजार के सामने आई होगी कि किसी भी बात के अंदर हक एक हुआ सकता है और दूसरा जो रास्ता है वो है गलत लेकिन अल्लाह ताला उस गलती को भी कबूल कर लेता है बुनियाद पर इसके ऊपर इसकी मेहनत को हुई है कोई फैसला करे और उसने से उसने काम लिया और दुरुस्ती तक पहुंच गया सही नतीजे तक पहुंचा फल को वकील व अख्ता फलहू वाज उसे एक अजर मिलेगा सही नतीजा तक पहुंचने वाले को डबल और जो गलत नतीजे तक पहुंचा उसे एक सवाब मिलेगा और दुनिया में रहते हुए के उसने अपने मौकफ को मुदल किया मुख्तलिफ वजूह तरजीह लेकिन हक नाराज एक वह कौन है इस जगह मैं मौलाना कश्मीर अब्दुल्ला का मौलाना कश्मीर ने क्या फरमाया कि दुनिया में वो हम कौन है ये तो ये तो मालूम कर दे मेरा कोई इंसान अपनी पूरी सलाहियत को ध्वस्त कर दे और इखलाफी मसले में ये मालूम करना चाहे कि हक कौन है ये गलत नहीं है कोई ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकता है बने तरगी मेरे सामने इस मौका की लेकिन हक यही है लेकिन इसलिए आले इल्म ने वो लोग अंदाज से कहा है कि शुरुआत के सिलसिले में हम जब अमल करते हैं तो क्या कहकर अमल करते हैं कि हम हैं सवाब पर लेकिन खता का एहतमान दूसरा है गलती पर लेकिन सवाब का एहतमान इस यकीन के साथ कहा गया है जुजियात और का अमल या रसूलुल्लाह अमल करने के लिए इस तरह का प्रबंध बनाया गया है कि अपने वापस के मुताबिक ये रखो कि ये हक है मगर गलती का इस्तेमाल दूसरा जो हमारे खिलाफ वक़्त कर रहा है वो है गलती पर लेकिन जवाब का भी इस्तेमाल दुनिया में तो इसका फैसला नहीं लेकिन आगे बढ़ करके उन्होंने ये बात भी कही तो क़यामत में भी इसका फैसला अल्लाह नहीं करेगा क्योंकि क़यामत में अगर फैसला कर देगा तो जो हक पर था उसकी दिलजोई है उसकी खुशी उसकी वाह तो हो लेकिन जिसने मेहनत किया था जिस पर अल्लाह ताला एक अजर दे चुका था उसको रुपा कैसे करेगा क़यामत में वहाँ रुपा भी नहीं करेगा होगा तो सियादी मसाज के मुताबिक जब हमारा यह समझा है कि दुनिया में भी फैसला नहीं होगा आखिर में भी फैसला इसका अल्लाह तला नहीं करेगा कि किसी को रुकवा और दलील करे हर एक अपने अपने मौकम के ऊपर मुखलिस और जिसको हक समझा उसको उन्होंने वादे की तो उसने दो दो अंदाज से ये बात कह लेना कि ध्यान मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो मजबूत हैं इन नुसूस के ताल्लुक से उन हजरात ने वो दावा किया कि इस तमाम इस्तवा अर्श के ऊपर हम आमिर हैं हमारा ये कहना कि वो उस पर भी आमिर नहीं है सही तौर पर अगर आमिर अगर बने तो फिर दूसरे नुसूस को नजरअंदाज हुआ करना लाजमा और नुसूस में आपस के अंदर टकराव नहीं बन रहा है टकराव का होना हमारे सहन का कसूर है लेकिन हकीकत के लिहाज से जब तक कोई टकराव नहीं है इस वजह ने एक शायद आए थे रमजान के रोज महीने में कि हम अपने अपनी बीवी से फोटो किनार हो सकते कि नहीं आपने मना दूसरे वक्त में एक साहब आए यही सवाल किया ने जवाब दिया कि कर सकते अगर आगे पीछे कुछ भी इस नजीब के न होगा हर एक के सामने इन दोनों के दरमियान क्या टकराव एक जगह आप अल्लाह इजाज दे रहे हैं एक मुबारक फरमा रहे हैं लेकिन जो साहबी वक्त हैं वो खुद उनके इन दोनों जवाबों का सुंदर बयान करते हैं कि जो पहले को आपने फरमाया था कि वो के नाम नहीं कर सकते वो एक जवान जवान ने ये मतलब पूछा वहां पर एतमाद ऐसा है कि मुमकिन है कि वहीं तक लड़के आगे बढ़ जाते थोड़ा सा लेकिन बाद में जो पूछने वाला शब्द था ये शब्द एक है पूरा शब्द था उस पर यह एतबाद था कि ये आगे नहीं बढ़ेगा उसी हद तक बात उसी हद तक इस्तेमाल कर लेगा तो जाहिर है कि इस तरह की हालत अगर हो और आगे न बढ़ा जाए होते का पता न हो तो जाए होगी मगर ये कैसे कैसे मालूम होगी सहाबी के बयान अगर सहाबी का बयान ना होता यहाँ पर कोई तरीका हमारे पास नहीं होता तो हम इन दोनों को टकराव ऐसे ही बहुत से रसूस ऐसे आते हैं तो वहां पर पसंदर बयान नहीं किया जाता है तो रसूख में टकराव ये नसूस में जो टकाव हमको महसूस हो रहा है हमारी दुनिया पर नजूल की इस्तेमाल और अशवा की ये सिर्फ इस बुनियाद पर है कि हमने कैफियत से समझना की अल्लाह के लिए हम कैफियत को खत्म कर रहे हैं और अल्लाह ताला के लिए कहे के मानस को भी इस्लाम के लिए अल्लाह ताला की बात के ऊपर वो समझ में जरूर आ रहे हैं हमको हम उनसे मानक को मालूम है लेकिन कैफियत हमसे मजबूर है तो दोनों लफ्ज से हर एक टूटा हो तरह ये तो थे उनके दलाए और उनके दलाए के जवाब मैं आगे दूसरा मसला शुरू कर रहा हूँ अपने दलाए लेकिन इससे पहले मैं समझता हूँ कि जो दलाई उनके मैंने पेश किए और जो दलाई के जवाब दिए उसमें कोई शुभा भी आप हजरात का है अगर है तो मैं इसको यहीं पर पहले ख़त्म कर दे रहा हूँ तो आगे वाली बात को मैं बढ़ाऊँ तजली इसे कहते हैं तजली के हर जगह मौजूद होने का भी कहीं मौजूद है तो बड़ा मेहरबानी के वाला है तजली किसे कहते हैं ये भी कैफियत का सवाल हो गया और कैफियत के ताल्लुक से कुछ भी नहीं कर सकता तजल्ली होगी उसके शान शामिल कैसी शायद शान है और तरक्की की नौजत क्या होगी शाह जब मैदान मैशर में जाएंगे या वहाँ पर तो कहा गया है जो प्रशिक्षक बारे में तो कहा गया हम लोग उनको देख करके होगी हम गिरेगी दिखाएंगे तो सही तौर पर समझ में आएगी अल्लाह की तजली और अल्लाह का दीदार सही तौर पर समझ में आएगा इन जन्नत में जब बैठेंगे वहाँ पर पूरे तौर पर समझ में आएगा कैफियत यहाँ पर समझाई नहीं कर कैफियत वो पढ़ी आगे दूसरा सवाल है कि तजली के हर जगह मौजूद होने का जिक्र कुरान हदीस में कभी मौजूद है तजली के मौजूद होने का जिक्र इन अल्फाज के साथ कहीं भी नहीं कि अल्लाह ताला अपनी तजल्ली के साथ हर जगह मौजूद है इस तरह इस अल्फाज के साथ को तो कोई कुरान पाक किया है तो मेरी नजर से नहीं और जो इस सवाल आज के ऊपर गुस्तगी ने की है उन्होंने भी इस तरह का दावा नहीं किया है देखे हैं इन नुस्खों को हमने कहीं भी नहीं पढ़ा कि जिसमें ये कहा गया हो कि तसली की हर जगह हो इसलिए ये दावा करना भी मुश्किल है अलबत्ता हम ये कहेंगे कि अल्लाह ताला के लिए जो भी सिफात आए जैसे मैयत के सिफात आए खुद के सिफात आए अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हर्ष के सिफात आए हम इन तमाम नसूस को जाहिर पर रखकर इनकी मुराद और इनकी कैफियत हम आगे इससे इनकार किसी भी नस्ल में न तो पूर्व मरियत वाले रसूल का इनकार और न इतवा और अर्श का इनकार किसी का भी इनकार नहीं हमारा उनका गैर मुबलिन का जो इख्तलाफ है सिर्फ इस बारे में कि वो एक तरह के महसूस को ले लिया दूसरी तरह के महसूस को नजरअंदाज कर दिया या दूसरी तरह के महसूस में उन्होंने जब आपको चारे कार और हम ये कहते हैं हमको करने की जरूरत नहीं बल्कि हर नफ्स को अपनी अपनी जगह कर और हर नफ्स को हम मानते हैं बगैर कैफियत को मालूम किए हुए बगैर कैफियत को समझाए हुए तो है कि रसूल के ऊपर असर आने को हम लोग और जिन नसूस पर आपके अमल का आपको अमल का दावा है तो उन नसूस पर किसी दर्जे में मान लें कि आप अमल करते हैं तो दीगर बहुत से नसूस को आपने उसके बाद सवाल है कि गैर मुकदमी कहते हैं कि अल्लाह अश्व है दुनिया में नहीं है और अश्व से ही सारी कंट्रोलिंग करते हैं इसका क्या जवाब जहां तक है कंट्रोलिंग की बात तो कंट्रोलिंग जैसे एक अगर मिसाल के तौर पर फैसला कर दिया गया तो आम पास में नहीं कर सभी को निश्चय इसलिए हम बिना किसी तस्वीर के बोल रहे हैं कि जैसे एक दफ्तर से सारे आकाम जारी हो अल्लाह ने बोला सदर मकाम और दफ्तर खराब दे दिया है लेकिन वहाँ पर मौजूद रहना अल्लाह ताला का जरूरी नहीं है ऐसे जैसे हम कुर्सी पर बैठते हैं अपने दफ्तर में जैसे हम अपने दफ्तर में बैठते हैं फर्श के ऊपर उस तरह से अल्लाह ताला बैठा हुआ नहीं इसको अगर समझना चाहे तो कभी बादशाह दफ्तर का जिम्मेदार उस जगह का जो क्या नाम है नज्म संभालने वाला हुआ करता है सफल त्याग नहीं वो सफल उनका हुआ लेकिन क्या उस दौरान जब कोई हुक्म उनको नाफिज करना होता है तो क्या सफर में पहले आता है फिर हुक्म नाफिज करके फिर जाना जरूर या सफर में होने के बावजूद वहां से कोई हुक्म नाफिज करना चाहे तो सफर में जो लोग मौजूद है वहां पर उनके हुक्म की तामील में उनको नाफिज तो जैसे हुक्म के लिहाज के लिए ज़रूरी नहीं है दफ्तर में किसी इंसान का मौजूद रहना लेकिन होता है दफ्तरी से लिहाज अमृत का ऐसे ही अल्लाह ताला को अगर ये बात किया जाए अल्लाह का ताल्लुक हर जगह से है अश्व भी है पश्च भी है हर जगह से ताल्लुक है लेकिन इसे सदर मकाम करार दे दिया अल्लाह ताला ने सारी चीज़ों के रखा लिहाज और सारे अवामिन की तरकीब कहाँ से हुआ करती है अगर ये इंसान किसी करिए आपके बहन के सही हो गया बहुत अच्छा अगर नहीं हुआ है तो हमको ज्यादा इसको जिद्दोजहद करने की जरूरत नहीं क्यों कैसे को हुक्म दूसरा सवाल यहाँ पर है इसमें कि गैर मुकदीन कहते हैं कि जब अल्लाह हर जगह हाथ को हाजिर है तो क्या हमारी कुर्सी के नीचे है शाम खाना में है बैतुल खाना में है जब यहाँ की इब्तदा यहाँ से हुई कि अल्लाह ताला मकान से बाबरा अल्लाह की अल्लाह गनी है अल्लाह समझ है जब ये नस हमारे सामने है और हमने ये कहा कि अल्लाह ताला किसी मकान किसी जमान बल्कि किसी जहर का मौका नहीं है तो फिर यहाँ पर हमसे ये सवाल करना कि पृथ्वी के नीचे हमारे पाँव के नीचे हमारे पेट के अंदर और जो संदास है बैतुल खला के जमा होने की जगह है जो कचरे की कुंडी है वहाँ पर अल्लाह है हो सकता आपका अल्लाह वहाँ पर जब कहेंगे आपका तो अल्लाह वहीं से होगा लेकिन हमारा अल्लाह तो मकान से मामा जमान से मामा यह से है हम ऐसे अल्लाह को मानते हैं और ऐसे अल्लाह के मुताबिक आपका ये दुआ करना निहत गलत हम जब माने अल्लाह के लिए मकान तब तो आप ये कहें कि कुर्सी खरीदे अल्लाह के लिए हम मकान माने तब तो आप कहें कि सगरे दान में अल्लाह तला है तब तो आप ये कहें कि यहाँ और बना हुआ बैतुलमला का उसके अंदर तो अल्लाह हमको अल्लाह तला के लिए कहते हैं मकान से बिल्कुल मावरा है हत्या के हज जैसे पाकिदा मकाम को भी अल्लाह के लिए हम नहीं मानते हैं तो उसका एहतियात अल्लाह तला को जिस पर हम जरूर कहते हैं उससे ताल्लुक जरूर हम बोलते हैं लेकिन ताल्लुक की नॉलेज क्या है हम इसको नहीं समझ पाते जब अल्लाह तला को हम जिसमानी नहीं मान रहे हैं अल्लाह तला को हम मकान वाला नहीं मान रहे हैं तो फिर हमसे ये सवाल करना ही हो रहा और अगर आपका अल्लाह ऐसा है तो फिर आपकी नस्बत कहाँ से है मुजस्मात है कुशक प्रयास है जिन जमातों दो जमातें अहल सुन्नत पर जमात से खाली है इसका मतलब ये कि आप खुद अपने आप को अहल सुन्नत पर जमात से खाली मानते हम तो अपने आप को ये कह रहे हैं कि हमारा अल्लाह ऐसा नहीं है मकान का मोहताज नहीं जमान का मोहताज नहीं सेहत का मोहताज नहीं फिर ये सवाल तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी जो है आप अल्लाह के लिए मकान मानते हैं आप अल्लाह के लिए मकान मानते हैं तो आपका अल्लाह इन लोगों में होगा हमारा हुआ चीज वाला पर आपको एक और सवाल है इस इस्तवा आश पर इन तैमिया के तफरू के बारे में जमहूर और ओलमा का रद्द किया है जमहूर और ओलमा का रद्द तो बड़ी तस्वीर के बाद किताबों में है और जहाँ कहीं उनके मतलब को किया उनके ऊपर समूह ने न किया और एक फतावा हजीफिया भी है वो भी के साथ ही उनके को करके और इस बात को कहा गया है कि ने कभी भी इसके को इसलिए उन्होंने जो जय साबित किया अल्लाह के लिए अल्लाह के लिए अल्लाह का अर्श के मुताबिक होना साबित किया इसी तरह से उन्होंने जो अल्लाह के लिए साबित किया अर्श के मुताबिक हाँ अर्श पर मुतमकिन कहीं और नहीं है

कि जितना इल्म था उनको उतनी अक्ल नहीं ये गैर नहीं है ये मौलाना अनवर शाह कश्मीर अहमदाबाद इल्म को अम्मा ने बहुत किया था तो बड़ी शख्सियत है हमारी जुबान ऐसी नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ बोल सकता लेकिन बहर बड़े लोग थे बड़े लोगों के हवाले से बोल सकते कोई हर्ज नहीं है हाँ मतलब को किया जा सकता है तो मौलाना कश्मीर हमला ने समझाया ने रेल को बहुत प्यारा और खास तबीयत उन्हीं का भी और ऐसी तबीयत थी किताबों में अगर मसाइल उनको हल नहीं पा सकते थे तो खुद ने दरमिया ने लिखा है अपने बारे में कि मैं किराने में निकल जाता अंदर में निकल जाता और बड़ा में हुआ था नाम का था कि अल्लाह का ये मतलब मेरा आपका हुआ ही सबसे बड़ा कोई कलाम नहीं है आवेदन उन्होंने उनकी आर्थिक नीयत इस मसले की बुनियाद नहीं मगर बात वही है उनके जो कलाम पढ़े हम हमको भी महसूस होता है इल्म को अल्लाह ने बड़ा गहरा दिया जब वो अपने मौका पर दलाल पेश करने के ऊपर आते हैं तो हम बड़ा इसलिए कहा जाता है कि हमारा मतलब का इतलाफ शुरू लेकिन उनकी किताबों में तो नई बातें होती है उससे सारे इल्म कमी हो पढ़ना चाहिए सिर्फ ये समझ करके कि जमहूर के खिलाफ उन्होंने बहुत सी बातें कह दी ठीक है उसका समाज दावा कभी उसका अमल करना चाहिए वहाँ कश्मीर हमला समझा कि इल्म तो बड़ा ऊंचा है लेकिन उस इल्म को इस्तेमाल करने के लिए जितनी अकल की जरूरत थी उसने कमी है किसी आदमी को हो लेकिन इल्म के साथ साथ अकल हो इल्म को रखने के लिए बस इंसान ने कमाल लगाई होता क्या था इब्न तैमिया की सवाले लिखने वालों ने इस चीज को भी एतराज किया कि उनकी तबीयत में जिद ज्यादा एक मौकफ को अगर उन्होंने पकड़ लिया उसके ऊपर चूंकि खास तबीयत थी दरार के अंबार लगा दिया करते थे और फिर उस मौकफ से हटना उनके लिए मुश्किल था तो एक चीज को जब कभी उन्होंने समझ लिया कि यहाँ है चाहे पूरी उम्मत उसके खिलाफ करे लेकिन पूरी उम्मत के मतलब पर नजर को देखते हुए अपने मतलब पर नजर पानी करने से वो बहुत दूर आ सकते इसकी मिसाल अगर आपको है तो बहुत ही मशहूर मसाला है उनकी कराची का मसला है क्या नाम है का मसला है जब पूरे एक तरफ लेकिन उससे हट करके इन्होंने जो राय कायम की अपनी राय पर साबित तो एक चीज की जिद और दूसरा ये कि दिल में जितना खास से रखने के लिए जितना जितनी अग्न चाहिए थी हमारे पास लिखा है बस ये वजह हुई सौदे बकिया उनकी नेक नीयत के ऊपर छुपा नहीं उनको भी अपने वक्त का मुजस्म बनाया आई है कि जब इंसान अपनी मुआरे की सतह से खुद करके कुछ करना चाहता है तो तफरुदात उनके साथ आते हम उसका इनकार नहीं करेंगे तो तफरुदात आएंगे आज हम भी पढ़ते हैं इमाम अबू हनीफा के मानने वाले हैं बहुत से मसाइल हैं इमाम अबू हनीफा के मतलब कुछ छोड़ है फिर भी हम नहीं कराते सबका कहते हैं कि इमाम हनीफा के कॉल पर नहीं है सारे के कॉल पर इमाम मोहम्मद के कॉल पर पर फिर भी हम हनफी होने से नहीं करते तो क्या हुआ बड़े हजरात के सामने कुछ मजदूर अखबार भी होते हैं बाद में आने वाले लोगों के लिए चाहिए ये कि वो गोल समझ करके इसके बाद तो जमहूर के मतलब के मुताबिक जमहूर के विकास के मुताबिक उसके ऊपर अमल को तो करें लेकिन अधिक से लेकर या तक जितनी बात उसकी है सबको ले लेना ये बोया अल्लाह उसके रसूल जैसा हमारा मुसलमान आज पूरी उम्मत में से कोई ऐसा शख्स नहीं है सिवाय नबी को छोड़ सकते कि उनकी अलिफ से लेकर के जा सारी बातें पूरी उम्मत हत्या के सारे ग्राम भी हैं सारे ग्राम के दरमियान भी इख्तलाफ हुआ है पूरी बातों को हमने लिया है एक के लिया दूसरे का हमने नहीं लिया तीसरे का लिया चौथे का हमने नहीं लिया हाँ एक पर अगर हो गया क्योंकि तो वहां से गुरेज करना हमारे लिए वहां से सत्य कवर करना हमारे लिए चाहिए तो इसलिए ये समझ लेना कि नबी के अलावा उम्मती का कोई फर्क मासूम होगा अपने इतिहास में अपनी राय में तो मुझे ये समझना चाहिए कि उसको दर्जा दे दिया गया है अल्लाह उसके रसूल वही मासूम है अपने इतिहास अपने सारे आमाल और पालन आज कितने तैयारियाँ के साथ मसला आज बहुत से खाते अलग हुए यही हो रहा है मासूम को करार दे दिया गया तमाम इश्तेहारा और लोग उनके पीछे पड़ गए इस एतबार से इसे करने का मतलब है ठीक का मतलब जरी हो सकती है उनसे बड़े बड़े लोग भी गुजरे हैं को मानते थे मामे वो भी इतने सहनिया जी को मानते थे यानी के अंदर भी और के अंदर भी इनको मानते हैं मगर इमाम कार्यालय ने भी अपनी वस्तु का इकरार किया जब उनके बड़े से गलती हो सकती है तो क्या तरीका से नहीं हो सकती खराबी गलती हो जाना नहीं है लेकिन बाद में आने लोगों का उनकी गलती को पकड़े जाना उनकी गलती पर इकरार करना यह अपराधी की बात यह गलती वो अपने इतिहास की बुनियाद पर इंशाला जरूर मालूम होंगे लेकिन बाद में आने वाले उनके इश्तिहार के गलत होने के बावजूद पकड़े हुए हैं ये मासूम होकर अल्लाह ये जिंदगी सही है लेकिन वो तो सही थे अपने इतिहास की रोशनी को वापस उन्होंने अपनाना चाहा अपनाया अपने इतिहास के अंदर वो भी इसलिए उनकी गिरफ्त तो नहीं हो सकती मगर जिन अफराज के सामने वादे तौर पर चलाए जा रहे हैं और फिर भी वो उसी मोहब्बत को इख्तियार करने पर मुश्किल हो जाहिर है कि एक दिन तो एक सवाल तो ये था कि शकील इख्तलाफ का सबब क्या था ये दो वजह हमारे जहन में आ रही है जो किताबों से मैंने महसूस किया इसमें एक सवाल और है वो आयात जिनमें हर जगह अल्लाह के मौजूद होने का जिक्र है उनका ये हजरात क्या जवाब देते हैं और क्या मतलब प्रयास करते हैं आमतौर पर इन हजरात ने उसका जवाब दिया है तो जैसा आप बैठे हुए हैं यहाँ पर हम बैठे हुए हैं ऐसे ही वो कहते हैं अल्लाह बैठा हुआ और जब एक जगह बैठ गया तो फिर यहाँ पर अल्लाह बैठे हो तो एक चीज वो जगह पे मौजूद हो तो जाहिर नहीं वो फलसफा पढ़ेगा तो फलसफा जान पढ़े हुए जो तो कहते हैं कि एक शहर एक ही आंख के अंदर दो जगह मौजूद नहीं हो सकती शहर लागू चलो कि आंख मारेगी की मौत आए वो जगह के ऊपर एक शख्स जैसे यहाँ मौजूद नहीं हो सकता यहाँ पर भी मौजूद हो और मस्जिद के अंदर भी मौजूद हो यहाँ पर भी मौजूद हो और घर पर भी मौजूद हो ऐसे ये नहीं हो सकता ऐसी अल्लाह आज के ऊपर है और फर्श भी क्योंकि उन्होंने प्यास किया मखलूक के ऊपर और जो आयत आई हुआ बाकुम इस तरह की जो आयात है उससे उन्होंने कहा हिल हिल अल्लाह ताला के साथ उनकी जगह है रात के साथ तो ये पूरे तौर पर गोया करार दी गई अल्लाह तबारक ताला की रात को मखलूक और अल्लाह ताला की रात मखलूक के न शेर से न मखलूक की से न मखलूक पर प्रभाव करती है ये हमारे तो का मौजूदा मशहूरा किसी किताब में है अगर वाकई हो तो बताएं ताकि सही मुझे काम करने वाले हासिल कर सकें और हाँ मैंने तो शायद अपने मुखालिफ पर जिक्र किया है उनको इशारा करके नहीं किया है वो तो उनकी किताब है अल इस्लामिया आगे इससे शुरू में एक शब्द है अगर नाम है ये बंदा को मैंने बयान किया भेद के साथ के साथ और फिर उन्होंने इनकार किया इसका हाँ, इस्लामिया ये उनकी तकनीक है उसमें उन्होंने लाना की चीज का जिक्र किया इसी तरह से किताब रस्सी बल जहमिया किताब रस्सी आलम जहमिया ये उनकी किताब है इसमें भी उन्होंने इसकी तरकीब की इसी तरह से एक है में अल्लाह के जैसे अल्फाज से की है ये जाने की जरूरत नहीं है खुद जो हमारे दर्ज निजाम है नाम है उसके अंदर भी जो अल्लाह के साथ जो शहीद का लफ्ज आया है अल्लाह के लिए जो माफ का

या दूसरे फरीक को ताबीर का हिस्सा नहीं है ताबीर की के एक आयत की आपने की और वहां से की ये ताबीर नाना मतलब यही है कि हफिल वली की ये ताबीर आपने की और इस ताबीर पर हम ये नहीं कहते हैं कि आपने असल नौ बिल्कुल गलती का ये भी ताबीर हो सकती हमने जो ताबीर की है कि अल्लाह ताला उसके साथ साथ हर जगह हाजिर और नाजिर है और रसूल के अंदर हमने काबिल जो की है उसको हम लोग गलत करार दे रहे हैं उस पर हम जवाब कहते हैं कि ये मतलब नहीं लेकिन जहाँ तक है अल्लाह का कलाम है कलामी मलूक कलाम कलामुल्ला कलामुल मलूकुल तो कलाम यानी अल्लाह का कलाम है बादशाह का कलाम तो जैसे क्या है एक कलाम के अंदर मुख्तलिफ क़ैसे हो सकती है एक कहत आपकी तो जैसे एक मिनट के लेने पर आप अपने आप को हक पर समझ रहे हैं आप दूसरों के साथ बदनीयती क्यों कर रहे हैं कि दूसरा अगर एक मौसम को इख्तियार किया दूसरी तामील करके तो उसको आपने को जमात से निकाल दिया आपका कि काफी तक करार दे दिया आपने यहाँ तक उसको उस मसले को बढ़ाया तो ईमान खुद की बुनियाद बना दी बाद क्या नाम कुछ दिनों पहले हमने सुना कि एम्बेसी में हम कोई जाते थे जिला वाला लेने के लिए तो उससे सवाल होता था फाइनल अल्लाह जो कह देता था कि अगर आज जो कह जो अपनी आसमान जो उठा लिया करता था तो गोया उसको सीधा मिलता और जो ये कहता था अल्लाह हर जगह मौजूद है तो उसको अल्लाह उसने शहीद शहीद कह दिया उसको सीधा नहीं कर तो आपने जो इस तरह का तशद अपनाया और इसको उसको इस्लाम की बुनियाद करार देखी ये कहाँ तक आपका चीजों को चाहिए इसलिए ये बात जो कही गई है कि इस की तावील तावील वो है भगवान ने इसको लिखा है लेकिन हम सही का इसमें एक सवाल है कि हजरत खानवी वाले बादशाह ने आपने है कि अल्लाह ताला अपनी तवज्जी के साथ हर जगह मौजूद है

लेकिन तो शौक देखकर आप करता हूँ कि फंड अव्वल की मुराद ये है कि अल्लाह ताला हर जगह मिस हवा से फैला हुआ है सबको गलत है लेकिन क्योंकि इससे अल्लाह ताला का मकानी होना लाजम आता है अगर ये मतलब है कि उसकी की गैसी से उसकी दाते के शान के बेबा है अर्श के साथ खास नहीं है एक लफ्ज है उसकी प्रगति जैसी के साथे पुनर्ग्रह में शान के देवा है अर्श के साथ हाथ नहीं है और वो तो जवाब सवाल का उनका बल्कि हर जगह मौजूद है तो इसमें कोई कलाम नहीं है नब्बे फकीम सलालत या किसी दलील हकीम में समाप्त नहीं है ये बात आपने वही बात मदद की है लेकिन सवाल क्या करना चाह रहे हैं ये बात ही नहीं है दलील वही सारी आयात हैं जिसमें कहा गया है हुआ बाबू नानो हम लोग को ये एक हाफिज रही वल्लाह बिल्कुल शहीद शहीद वल्लाह बिल्कुल शहीद वहीद ये जितनी आयात हैं यही सारी आयात को अल्लाह ताला के लिए हर जगह हाजिर लाने की और इस तरह राष्ट्र की तरह से राष्ट्र के साथ सामने की दोनों चीजों को माना चाहिए तस्वीर कहना है तजल्ली की कैफियत क्या होगी ये तो मालूम है तजल्ली की कैफियत ये और उसके बाद है हजरत उम्मे सलमा वाली रिवायत बराए मेहरबानी इबारत है अगर उम्मे सलमा के हुआ की रिवायत ये है वाली बात की मेरे नोट में है मैं वो पूरा नोट लेके नहीं आ रहा ये इस साहब का ये सवाल है आ, वो मेरा नंबर जानते हैं अरे मेरा नंबर जानते हो तो आज तो हफ्ते के दिन अगर ग्यारह बजे आपने अगर खुद कर लिया तो मैं वो हिवाला है लिखा हुआ मेरे पास मैं वो हिवाला देता हूँ वो हिवाला है मैं चंबा दूंगा सबसे पहले उन्होंने उम्मा की रिवायत ये दो तरह की मंजूर है बाद रात में इसको मकूब कहा है बाद रात में इसको मुस्तकी कहा है उस युवा को दोनों आगे सवाल है